फिर हमने पैदर पे अपने पैगंबर भेजे जब भी किसी कौम के पास उसका पैगंबर आता तो वो उसे झुठलाते चुनाचे हमने भी एक के बाद एक को हलाक करने का सिलसिला बांध दिया और उन्हें किस्सा कहानियां बना डाला फिटकार है उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते